नूरुद्दीन मेवाती भतंग वादक ग्राम खोयड़ा करमाली पोस्ट नीकस तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं भपंग वादक भपंग बजाता हूँ जोग या सरंगी बजाता हूँ चिकारा बजाता हूँ अलगोजा मेवाती बजाता हूँ और ये मेरे साथ में असरुद्दीन भाई हैं ये बजाते हैं भपंग बजाते हैं अलगोजा बजाते हैं बैंजो बजाते हैं महाभारत गाता हूँ जहाल पीर का जागरण गाता हूँ महादेव जी का ब्याह लगाता हूँ कबीरदास जी का भजन गाता हूँ मेवात गीत गाता हूँ सिंगल वाटी रतवाई मेहता जी के भजन रुस्तम की बात पांडवों की बात अली जानवरान की बात मैं ये सब गाता हूँ हर अवसर पर मांगलिक अवसर कोई भी हो उस पर मुझको लोग बुलाते हैं मेवात में मैं गाता हूँ मेरा पहले आपको आप सामने मैं भपंग वादन करता हूँ ये मेरा भपंग वादन है असलू जी के साथ जुगलबंदी हाँ साहब मैं आपके सामने अपना गाना सुमर साहब पेश कर रहा हूँ जो बच्चा होता है किसी के घर में तो हमको वहाँ गाने के लिए बुलाते हैं तो हम ये सुमर साहब खुशी में उसके लिए गाते हैं लोग बाग हमको बहुत खुशी से सुनते हैं ये हमारा गाने का वो है साहब सुमर साहब आ या इलाही तू कुल अख्तियार दे देना और खड़ा हूँ दर पे तेरे तू शर्मोसार दे देना तू ही तो इज्जत और जिल्लत का देने वाला है तेरी मर्जी है सो परवर दिगार दे देना अरे वो सुमर साहिब को नाम लाला तेने जन्म लियो सुमर साहिब को ना लाला तेने जन्म लियो सुमर साहिब को नाम लाला तेने जन्म लियो सुमर साहब को नाम ओ लाला तेने जन्म लियो ओ जन्म लियो ओ जन्म लियो आयो हे मुठेली माँ हाथ पसार दियो आयो हे मुठेली माँ हाथ पसार दियो सोहाती जापे जलद हमारी भूरो सोहाती जापे जलद हमारी भूरो सोहाती जापे जलद हमारी ओ भूरो सोहाती जापे जलद हमारी भूरो सोहाती जापे जलद हमारी वाकई ऊपर रब ने तू सवार कियो सुमर साहिब को ना लाला तेरे जन्म लियो सुमर साहिब को नाम भोला तेने जन्म लियो सुमर साहिब को नाम लाला तेने जन्म लियो आयो हे मुठेड़ी बा हाथ पसार दियो अजियक पानी की बूंद एक पानी की बूंद मिनकी बनाई दियो एक पानी की बूंद मिनक बनाए दियो सुमर साहिब को ना लाला से ने जन्म लियो ओ सुमर साहिब को ना लाला से ने जन्म लियो सुमर साहिब को ना लाला से ने जन्म लियो आज शुभ घड़ी में पैदा की ना शुभ घड़ी में आया शुभ घड़ी में पैदा की ना शुभ घड़ी में आया रब ने तो को दुनिया का ये दर्शन तो दिखलाया ले वो तुम्हारे साहिब को ना लाला तेने जन्म लियो ले वो तुम्हारे साहिब को ना लाला तेने जन्म लियो ले वो तुम्हारे साहिब को ना लाला तेने जन्म लियो আরে জীব জীব রে লালা তুমি জীব রে লালা জীব জীব রে লালা তুমি জীব রে লালা জীব জীব রে লালা তুমি জীব রে লালা ও জীবনে নানা জীবনে নানা তুমি জীবনে নানা জীব জীবনে নানা তুমি জীবনে নানা জীব জীবনে নানা তুমি জীবনে নানা জীব জীবনে লালা তুমি জীবনে লালা জীব जंगल में दो गीदड़ बोले आधी रे आधा अरे जंगल में दो गीदड़ बोले आधी रे आधा अजी जंगल में दो गीदड़ बोले आधी रे आधा जंगल में दो गीदड़ बोले आधा रे आधा माँ की गोदी में डालो तेरे दादी रे दादा हो दादी रे दादा जियो जियो रे लाला जीवो रे लाला जीवो जीवो रे लाला तुम जीवो रे लाला जीवो जीवो रे लाला तुम जीवो रे लाला जीवो जीवो रे लाला तुम जीवो रे लाला जंगल में दो गीदड़ बोले हानी रे हाना जंगल में दो गीदड़ बोले हानी रे हाना जंगल में दो गीदड़ बोले हानी रे हाना जंगल में दो गीदड़ बोले हाना रे हाना মাকে গদি মেলানো টেরে নানি রে নানা হো নানি রে নানা জিও জিও রে নানা তুমি জিও রে নানা জিও জিও রে লালা তুমি জিও রে লালা জিও জিও রে লালা তুমি জিও রে লালা জিও জি লালা জিও জি লালা তুমি জিও লালা তুমি জিও জি লালা জিও हाई रे हाई हाई जंगल में दो गीदड़ बोले हाई रे हाई माँ की गोदी में लाला तेरे ताई रे ताई ओ ताऊ रे ताई जीवो जीवो रे नाना तुम जीवो रे नाना तुम जीवो रे नाना तुम्हें जीवो जी लाला जीवो जीवो जी लाला तुम्हें जीवो जी लाला जीवो ओ जीवो जी लाला जीवो जी लाला जीवो जी लाला तुम जीवो जी लाला तुम जीवो जी लाला जीवो जीवो जी लाला तुम जीवो जी लाला जीवो जीवो जी लाला यूपी होटल मुथुरा घूमा हमने घूमी है यूपी है होटल मुथुरा घूमा हमने घूमी है यूपी हो जंगल में दो दड़ बोले हो की जी हो की जोगी दड़ बोले हो की जी हो की माँ की गोदी में नाना तेरे भुआ रे फूपी हो फूपा रे फूपी ジオジオジララトムジオジララジオジオジララトミジオジララジオジオジララトムジオジララジオジオジララ अमृतसर से गड्ढी आई उसमें आई चक्की गिर अमृतसर से गड्ढी आई उसमें आई चक्की अजी अमृतसर से गड्ढी आई उसमें आई चक्की अमृतसर से गड्ढी आई उसमें आई चक्की माँ की गोदी में लाला टेरे चाचा रे चाची ओ चाचा रे चाची जीवो जीवो जी लाला तुम जीवो रे लाला जीवो जीवो जी लाला पुरानी रानी है साहब पहले जमाने की टूटी मंझवली जामे छोटा छोटा बेल रे अरा अवधील ने राज पैदल तो चलो ना जावे सजना मेरा अरे मोपे पे तेरी गए रे अरा बालम तुम्हें मेरो है जी મારા ઓંડી રોટી मेरी नणदी का बीरा खाने खाने राज अरे तू में तो मेरो जी घाणोई ये पहले जमाने की हिसाब रहते है दूसरी रतवा ये है राम मेरी नड़दी नड़दी की बीरा अरे झूठो तो झूठो तो अरे मती है सोई अरे ना है या मौत कोई हरे मेरा नणदी दीकाई नन दीकाई अरे बीरा हरे परिभति पे परिभति पे चलूंगी या को मैं नाच अरे बालम तोई बालम तोई दुआड़ा डाटी अरे लगा गई देवरिया मेरी बाखन बीच बजा लगा गयो देवरिया मेरी बाखड़ी बीच बजा लगा गयो देवरिया मेरी बाखड़ी बीच बजा अरे मेरी लड़की कबीरा रे चिरवा तुई तो अरा पत्तो है नी कोई अरा दौड़ो तो आवे या में फूले हरे सुगड़ तोई हरा मेरी ननदी ननदी मेरी लावण तो अरे बलमा जे जो मेरा नन दिकाई

तो दूंगिया में प्याजी कोई अना I'm alma tui. ਸੁਬਾਹਿਆ ਦੀ ਕੀ ਹਰਾਸਿਯ ਜਨ ਪੇ मेरी सिंगल बाल्टी है मेवात की बाबा मैं तो तेरा जंगल की बाटी रे बाटी उड़ावा जित लू उड़ जाऊंगी अरा जैसी चोबरा का दुपल्ला की बाड़ी ओ, ओ, ओ, ओ जैसी चोबरा का दुप लादी जुअड़ी बा चल की सीढ़ी में धूप चढ़ गई ओ राहों में सिटे टर टरुअली हो लर जा खाई आ जरा टेक टर टरुअली लर जा खाई जिंदोली तियरी हम्बे हो जिंदोली तियरी घाटी में ओ कहा जवा को कौन तले में मीरा भग भग के शर्म के मारे हम भी उस शर्म के मारे ना बोले हरा जैसे बीरा की घाड़ी मेरा की घड़ी में चमके थे वो पहाड़ में टुअड़ी ऐसे चमके गिरवी धरती सारी बे चढ़वान से मजबान उमरेगी दुनिया जाड़े जाड़ के जरा हाँ, तू तो सिगरेट पीवी में चादू पानी तो सिगरेट पीवी में पान उसी दोनों Obrigado. जुअड़ी बाबा ने बाबा ने राजे से चौबारा का दुपल्ला की वार अरे रा आजायो र बिराली लिया जायो तीनों को दो डबरिया में डूबे अरे हो पहाड़ का जाना सो जाना सोरा युड को युड को मेरी जूतिन को बनाते अरे युड को युड को मेरी जूतिन को बनाते वो पहाड़ का रयाना जा कैसे राखूंगी चाधिरा रति हरी लाजे रे नहीं जंगल में साधन देखेगी तो करेगी मजा देखेंगी तो करेंगी मजा है झोली में अरे मगर मत पड़ियो राशि तो खराबे पहाड़ का ऊंचा टीला पे की हम भी ओ बिचोला से की माती मारे आंगली रखट गई खुर पास खुर पासुरा सातण होती तोरी बनसुरा द्यति बांगी आंगली रखट गई खुर पास खुर पासुरा सातण वती तोरी बनसुरा द्यति बांधे हरा काला काई को करे हो मुझे यादी ओ यरा काला काई को करे हो रा कदी तोरा काला बोला कोई रा बोला गोरा काला तेरो बंगलो है मेरी गेल चलो गोचो तो दिल्ली लुई अरे दिल्ली कूरा कंजर कुण बाकी भटियारी करके मोई अरा बाटन मुँह पे हाँ हाँ बाटन मुँह पे चांदी की मेरी भाई लिप सोना की झंझी बटाने मोपे हाँ हाँ बटाने मुँह चांदी की मेरी भाई लिप सोना की झंझी मेरी भायली पे सोना की झंझी बटने मोपे हाँ, हाँ बटने मोपे चांदी की मेरी भाई दी पे सोना की थकी ओ बटने मोपे हाँ हाँ बटने मोपे चांदी की मेरी भाई दी पे सोना की थकी अरे ई लंबी पार्टी हड़चने सखियो लंबो फेकू बीज और लंबी बाटी हल चले दखियो लंबी पार्टी हल चले हैं लंबी पार्टी अजी लंबी पार्टी हल चले ना लंबी पार्टी हल चले यू लंबी पार्टी हल चले मेरी लंबी पार्टी हल चले अरा देखियो लंबो फेंकूं बीज आपके पैदा होने दे अब के पैदा हो दे गोरी चलू घड़वा दूता बीज तेरी भायली पसोना की वो बटाने मोटे हाँ हाँ मोटे चांदी की मेरी भाई पे सोना की जंजीर वो बटाने मोटे हाँ हाँ मोटे चांदी की मेरी भायली पे सोना की जंजीर ओ मेरा साहिबा देखियो में समझाऊं तो बरा बरा सुनियो मेरा साहिबा देखियो में समझाऊं तो अरा गद का को लहंगो बने मोलो गद का कोले गो बने कजरी अस्सी कली की हो मेरी भायली पसोना की जंजीर वो बटने मो पे हाँ, हाँ बटने मो पे चांदी की मेरी भायली पसोना सखियों मत दिल में घबराए तू सुनियो गुरी बावली दखियो मत दिल में घबराई अरा अब के पैदा होने दे आपके पैदा होने दे चुरू में कट लो तू घड़वाई मेरी भाई दीप पसोना पटनी मोती हाँ हाँ मोती चांदी की मेरी भाई दीप सोना की बनी पटनी मोती हाँ हाँ मोती चांदी की मेरी भाई दीप सोना की बनी पटनी मोती हाँ, हाँ Andiquinha ali, vai ele pessoa. लाली पसोना की जंगीर पटाने मोपे हाँ हाँ पटाने मोपे चांदी की मेरी भाईली पसोना की जंजीर अरे तू सुनियो गोरी बावली दखियो तू मत दिल में घबरा हरा तू सुनियो बुरी बावड़ी दखियो मत दिल में घबराए अरे कटला हंसली साथ में कटला हसली साथ में दूंगो पचमणियों बनवा केरी भाई पसोना की जंजीर बटाने मोटे हाँ हाँ बटाने मोटे चांदी की मेरी भाई पे सोना की जंजीर हरा अटलो गठलो दुलड़ी तिलड़ी पांच कली को हुए अटलो गठलो दुलड़ी तिलड़ी पांच कली को हुए अरे अटलो गठलो दुलड़ी तिलड़ी पांच कली की हो अरे पिया झांझण पाती साहेबा बोलो झांझण पाती साहेब अब के घरवा दीजो मुंह मेरी भाई लिप सोना की बटने मुके हाँ मुके चांदी की मेरी भवेली पे सोना की झजीर बटने मुके हाँ मुके चांदी की मेरी भाई पे सोना की झजीर Uh... आराधा रोहे तेरो सब गहणो सब गहणो ओ मेरो हंस लो जाए धरो हे तेरो हाँ हाँ धरो हे तेरो सभी गहनो मेरो हंसिया की लो जाए धरो हे तेरो सभी गहनो मेरो हंसिया की लो जाए अरे मेरो हंसिया की लो जाए राधा तेरो हाँ राधा रोहे तेरो सब गहनो मेरो हंसिया की लो जाई अरे यूपिया दखियो कस लायो घोड़ी हरे मेरू पिया आयो लेने को सखियो कसलायो घोड़ी अरायो सातन छोड़ी साथ की मैंने सातन छोड़ी छात की मेरी बिछड़ चली जुड़ी मेरो हनसिया की अलो जा उधरो है तेरो हाँ हाँ धरो है तेरो शब गहनो मेरो हनसिया की अलो जा हाँ धरो है तेरो धरो है तेरो सभी गहनो मेरो हनसिया की लो जाई अरे पिया आयो लेड़कू दखियो भर बुगला को भी पिया आयो लेड़ कुहा पिया आयो लेड़ पिया आयो लेड़ हरा मेरो यूपिया आयो लेन को दखियो भर बुगला को भेस अब नैना रोवे दिल हसे नैना रोवे दिल हंसे में तो चली पिया के देश मेरो हम हंसिया की जा धरो रे तेरो हाँ हाँ धरो रे तेरो सब कहनो मेरो हंसिया की अलो जा धरो रे तेरो हाँ हाँ धरो रे ओ हो धरो रे तेरो सब कहनो बाची रही पिहर थोड़ा दिन को बाच लिया रोहन अकीलो ओ धरो है तेरो हाँ धरो है तेरो सब गहनो मेरो हनसी अकीलो जाए धरो है तेरो हाँ हाँ धरो है तेरो सब गहनो मेरो हनसी अकीलो जाए ओ धरो है तेरो हाँ हाँ धरो है तेरो सब गहनो मेरो हनसी अकीलो हरा देखी बाट तराजू आ गया देखियो तुलने लागी रास अब ये हाँ। ये बाट तराजू आ गया देखियो तुलने लागी रास बाट तराजू आ गया है बाट तराजू आ गया ये बाट तराजू आ गया है बाट तराजू आ गया जब बाट तराजू आ गया दकियो तुलने लागी रास जिनके घटा घुंगरू बोलता जिनके घटा घुंगरू बोलता उनकी ना जीने की आस मेरो हनसिया की रो धरो है तेरो हाँ हाँ धरो है तेरो सभी गहनों मेरो हनसिया की लो जाए